दस मंत्र पूरा हो गया था इंद्रियभ्य पराह्यथा अर्थव्य पर मन मनसस्त परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर बुद्धि से आत्मा महान है गर्भ तत्व को कहा बुद्धि से पर है समष्टि बुद्धि अभिमानी है वह बोधाबोधात्मक कहा महान आत्मा बुद्धि से पर है बोधा ज्ञान क्रिया शक्तियात्मक ज्ञान है बोध क्रिया है अबोध महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान परं किंचित साकाष्ठासा परागति महत परम अव्यक्तम महत जो हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि प्राण अभिमानी उससे पर है अव्यक्तम अव्यक्त है माया अज्ञान अव्यक्तात पुरुष पर अव्यक्त से पुरुष है पर शुद्ध चिन्ह मात्र पुरुषान परं किंचित पुरुष है पुण्य होने से पुरुष है अपरिच्छिन्न तत्व उससे पर निरत से कुछ नहीं सा काष्ठा सा परागति वो अंतिम प्रकृष्टागति है परागति वो सब से अंत में काष्ठा सब की निष्ठा अंत में परिसमाप्ति है उससे बढ़ करके नते से निरत से कोई नहीं पारमार्थिक सत्य हुई है महत्वपि परम सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतर है प्रत्येगात्मभूतम उसका वास्तव स्वरूप है महत्व भी माया के कारण ही महत्त्व सर्वमहत्तरम च अव्यक्तम सारे कार्य के अपेक्षा कारण माया है महत्तरम च अव्यक्तम इंद्रियादि प्रमाण से व्यक्त नहीं होने से अव्यक्तम सर्वस्य जगत तो बीजभूतम सारे जगत का बीज रूप कारण रूप है अज्ञान अव्याकृत नाम रूप सतत्वम वह नाम रूप प्रकट होता है तो सृष्टि होती है अव्याकृत नाम रूप अव्याकृत नाम रूपे यस्मिन जिस अवस्था में नाम रूप अव्याकृत है वैसे स्वरूप है ज्ञान है माया है अव्यक्त है सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम सर्व कारण के कारण शक्ति कारण शक्ति का समाहार जितने कार्य है सो माया का कार्य है कार्य के कारण शक्ति के समाहार मेलन रूप है कारण शक्ति अबीज बीजात्मक अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम शास्त्र में कहें उसको अव्याकृत कह दिया क्योंकि नाम रूप व्याकरण के पूर्व अवस्था है अव्याकृतम आकाश शब्द से कहीं का कहीं अक्षर का अव्यक्त कहा ऐसे कुट कहीं कुटस्थ भी कहा चर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते हाँ कुटस्थ माया गीता में ये विभिन्न पद से कहा जाता है परमात्मनि ओत प्रतोभावेन समासितम भटकणिकायामेव भटवृक्ष सिद्धि परमात्मा तो प्रोत रूप से आश्रित है ओत तो प्रोत में जैसे पट में दीर्घ तंतु और ह्रस्व तंतु है तंतु चौड़ लंबा चौड़ा अलग प्रकार है तो एक ओत तो लेंगे तो अन्य प्रोत है जिस पर पट तंतु में इसे प्रोत करे तंतु उसमें है परमात्मा में प्रोत भाव ने समासित प्रोत क्या है तंतु से पट अलग नहीं होता है भिन्न नहीं अभिन्न नहीं अनिर्वचनीय पट है ब्रह्म से माया तत्व अलग नहीं भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं अनिर्वचनीय है अलग नहीं है एक अद्वितीय तत्व है ब्रह्म परमात्मा की सत्ता से ही उसकी सत्ता है अलग सत्ता है ही नहीं किंतु अत्यंत अभिन्न भी नहीं है शक्ति और शक्तिमान वो दोनों में भेद नहीं अभेद नहीं अग्नि की शक्ति कोई व्यक्ति चैत्र की शक्ति उससे भिन्न हो चैत्र के बिना रहनी चाहिए भिन्न नहीं और अभिन्न है तो चैत्र की शक्ति अग्नि की शक्ति इसे षष्ठी प्रयोग नहीं होनी चाहिए प्रयोग होता है अग्नि शक्ति अग्नि की शक्ति इसलिए भिन्न नहीं अभिन्न नहीं वह निर्वचनीय है यह भी समासित ब्रह्म में बट्टकणिकामेव बटवृक्ष सति बटकणिका बीज छोटा सा ही होता है उसमें वटवृक्ष की शक्ति है दिखती नहीं कार्यानुमेया कार्य से अनुमान करते हैं उसी बीज से वृक्ष हो जाता है इसी प्रकार सारे प्रपंच कार्य से अनुमान करते कोई कारण शक्ति है शुद्ध ब्रह्म तो निष्क्रिय है निर्विशेष है कूटस्थ है कुछ क्रिया नहीं करेगी तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई जगत दिखता है कार्य तो अवश्य ही उस कारण शक्ति है वही शक्ति है कार्य पारमार्थिक नहीं उनसे कारण शक्ति भी पारमार्थिक नहीं किंतु कार्य जब दिखता है तो कारण कल्पना करनी होती है कार्य की सत्ता जिस प्रकार कारण की सत्ता इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म चिन्ह मात्र पारमार्थिक है कार्य व्यावहारिक कारण माया भी व्यावहारिक है अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है अज्ञान की निवृत्ति से कार्य प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है तो भी जब तक तो कार्य दिखता है कारण है ऐसे कल्पना करते हैं इसी प्रकार बट वृक्ष शक्ति जैसे है बट विषय में इसी प्रकार सारे कार्य की शक्ति उसमें है प्रपंच कार्य उत्पन्न होता है टीका में प्रलय सर्व कार्य कारण शक्ति नाम अवस्थानम अभ्यवगंतव्यम शब्दार्थ संबंध से शक्ति लक्षण से नित्यत्व निर्वाहाय प्रलय में सर्व कार्य कारण शक्ति नाम सर्वेषाम कार्याणाम कारणानाम च शक्ति नाम कार्य कारण की शक्ति कार्याणाम कारणानाम च शक्ति नाम सारे कार्य की शक्ति कारण की शक्ति का अवस्थान मानना पड़ेगा अग्नि आदि कार्य है उनकी भी शक्ति कारण की शक्ति उनके कारण सब कारण की शक्ति शक्ति नाम अवस्थानम अवस्थानम स्थिति अभिवगंतव्यम मानना पड़ेगा मानना चाहिए कार्य कारण शक्ति क्यों मानेंगे शब्दार्थ संबंध से शक्ति लक्षण से नित्यत्व निर्वाहाय शक्ति है शब्दार्थ संबंध को शक्ति कहते पद पदार्थ संबंध शक्ति है शक्ति स्वरूप है शब्द के साथ अर्थ का संबंध शब्द को व्याकरण में मीमांसा में नित्य मानते हैं न्यायिक लोग तो शब्द की उत्पत्ति होती द्वितीय क्षण स्थिति तृतीय क्षण नाश वेदांत में ब्रह्म से भिन्न कोई भी नित्य नहीं है आकाश आदि की जिस प्रकार उत्पत्ति होती है प्रलय काल तक रहता है आकाश इसी प्रकार शब्द की उत्पत्ति होती है सृष्टि काल में प्रलय काल तक रहता है तो शब्द इस प्रकार न्याय के जैसे द्वितीय तृतीय तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं मानते हैं और आत्यंतिक नित्य भी नहीं क्योंकि सदैव सम इदम अग्रासित एकमेव अद्वितीयम एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं तो वह शब्द अर्थ का संबंध शक्ति प्रलय काल में मानना पड़ेगा मानना चाहिए जो प्रलय काल में नहीं है असत असत है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी सत्कार्यवाद तार्किक लोग कहते तंतु से पट बनता है जो पट पहले नहीं था मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती उत्पत्ति के पहले घट बिल्कुल था ही नहीं सांख्य लोग कहते हैं नहीं था यदि उससे उत्पन्न हो जाता है तो तेल के लिए तिल सरसों आदि बीज क्यों लेकर के पीसते हो नहीं था बिल्कुल तेल इसमें तो मिट्टी रेत लेकर पिसो उसमें से तेल निकलेगा जिस प्रकार बीज में तेल था उसकी अभिव्यक्ति होती है इसी प्रकार सांख्य लोग तार्किक लोग न्याय के लोग सिखाते हैं मिट्टी में घट था उसकी अभिव्यक्ति होती है सांख्य लोग कहते यदि घट पहले था ये कुलाल को इतने परिश्रम क्यों करना पड़ता है मिट्टी में से घट है तो मिट्टी में घट नहीं था घट बनाने के लिए दंड चक्र कुलाल व्यापार करना होता है मिट्टी में घट नहीं था न एक लोग कहते सांख्य लोग कहते तो नहीं था घट बनाते हैं तो घट बनाने के लिए मिट्टी क्यों लाते हैं दही बनाने के लिए दूध क्यों लाते हैं पानी से बना दो घट बनाने से रेत से घट बना दो मिट्टी क्यों लाते हैं नहीं तो पानी से घट बना दो पानी रखने के लिए घड़ा चाहिए तो पानी से घड़ा बना दो तो जिसमें वो कारण शक्ति है उसको लाते हैं तो शक्ति उसमें रहती है तो वेदांत वेदांत लोग दोनों के झगड़ा है तार्किक न्यायिक लोग और सांख्य सांख्य लोग कहते कारण में कार्य है मूर्ति गणेश आदि मूर्ति बनाते पत्थर में पत्थर को खोदाई करके जो बाहर तोड़ तोड़ कर निकाल दिया तो मूर्ति निकली गई मूर्ति उसमें थी नया बनाते नहीं इसी प्रकार मिट्टी में घट था उसकी अभिव्यक्ति होती है दंड चक्र कुलाल व्यापार से अविद्यमान की उत्पत्ति हो तो बंध्या पुत्र उत्पन्न हो जाए असत है अभाव अभाव तो सर्वत्र सिद्ध है कार्य बन जाए इसलिए जो विद्यमान है उसकी अभिव्यक्ति होती है जन्म का तो प्रादुर्भाव प्रकट हो जाना धातु का अर्थ होता है जन्य प्रादुर्भावे प्रकट हो जाना ये उत्पत्ति है असत की उत्पत्ति नहीं है असत घट की उत्पत्ति तारिक नए एक लोग कहते सांख्य लोग नहीं मानते नाश हो गया तो नए एक लोग कहेंगे अभाव हो गया प्रध्वंस अभाव सांख्य लोग कहते नाश हो गया मतलब तिरोभूत हो गया दिखता नहीं नश अदर्शन नहीं नाश हो गया मतलब अदर्शन हो गया अदर्शन का अर्थ अभाव नहीं है दिखता नहीं है तभी तो दर्शन कहा जाएगा जो नहीं है बिल्कुल है नहीं से नहीं है कि दिखता नहीं जन्य प्रादुर्भावे प्रादुर्भावे न है धातु अर्थ से स्पष्ट होता है उत्पत्ति का अर्थ प्रादुर्भाव और नाश हो गया तो त्रिभुत हो गया दिखता नहीं अप्रकट हो गया मैं विद्यमान की उत्पत्ति अभिव्यक्ति कहते हैं सांख्य में तो उसमें वेदांत लोग कहते दोनों को कहते ठीक है आप कहते हो विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती हम भी मानते हैं अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती ये भी ठीक है तो फिर किसकी उत्पत्ति होती ये उत्पत्ति मानो क्यों उत्पत्ति होती ही नहीं है तो घट दिखता है पट दिखता है क्या है हाँ, दिखता है हम मानते हैं किंतु ये तो पट नाम को कोई वस्तु है ही नहीं तंतु से अलग कर देखो पट है तो मिट्टी से अलग कर देखो घट है तो घट से पट भिन्न है या नहीं घाट से पट भी नए मना कर दे घाट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा क्या रहेगा अब पट को जला देंगे तो घट रहेगा क्योंकि भिन्न है इसी प्रकार तंतु से यदि पट भिन्न होता तो तंतु को जला दो पट पहन लो तंतु से अलग पट रहेगा तंतु नष्ट होने पर मिट्टी से घट अलग होता तो मिट्टी को अलग कर दो घट में घड़ा में पानी रखो अलग नहीं है भिन्न नहीं है तो सांख्य लोग यदि भिन्न नहीं न्याय के लोग कहते भिन्न नहीं यदि अभिन्न है तो मिट्टी में घड़ा रखो पानी रखो मिट्टी में पानी रखो घड़ा क्यों लाते हो घड़ा तो मिट्टी में है मिट्टी से घटा अलग नहीं है अलग नहीं है तो पानी में रखना पानी रखने के लिए मिट्टी मिट्टी में रखो घड़ा क्यों लाते खरीद करके तंतु लेकर के पहन लो कपड़ा क्यों पहनते हो धागा लेकर के लपेट लो इसलिए मानना पड़ेगा अलग है वेदांती कहते अलग नहीं भिन्न नहीं अभिन्न नहीं तंतु से पुट अत्यंत भिन्न नहीं और अभिन्न भी नहीं अनिर्वचनीय भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं तो फिर क्या कहेंगे कुछ बोलना जरूरत नहीं अनिर्वचनीय अनिर्वचन होता मतलब ना भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं सत नहीं असत नहीं उभय नहीं इसका नाम अनिर्वचनीय है और है दिखता है व्यवहार होता है ठीक है पट नामक वस्तु अलग है ही नहीं कार्य उत्पत्ति होती है तो उसकी शक्ति है शक्ति पद पदार्थ संबंध को शक्ति कहते हैं शक्ति यदि नहीं तो आगे उत्पत्ति नहीं होगी और शब्द को जो नित्य मानते शब्द के साथ अर्थ का संबंध भी रहेगा शक्ति रहेगी शब्दार्थ संबंध को मान्य सिद्धे शब्दार्थ संबंधे व्याकरण में ये वार्तिक है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे शब्दार्थ का संबंध सिद्ध है शब्दार्थ नित्य है शब्दार्थ संबंध ये शक्ति है जिस पद का जो अर्थ है अभी उसी पद का अभी अर्थ वेद में पहले भी था जैसे पहले वेद था उसकी अभिव्यक्ति होती थी वेदांत मत में नित्य नहीं होने पर भी प्रलय काल में वो लीन हो जाता है अविद्या में उत्पत्ति काल में प्रकट हो जाता है उत्पत्ति होती है तो सत कार्य बाद उनसे कारण में लीन हो जाना प्रलय में और कारण से प्रकट हो जाना सृष्टि काल में शक्ति है तभी कार्य बनता है कारण नहीं तो कार्य नहीं बनेगा शब्द अर्थ संबंध शक्ति उसको नित्य कहते हैं के लोग व्याकरण लोग वेदांत नित्य नहीं किंतु इसी प्रकार मानते हैं विद्यमान की अभिव्यक्ति होती है असत कार्यवाद पहले है तो उसकी अभिव्यक्ति होगी प्रलय काल में नहीं रहे तो उत्पत्ति नहीं हो सकती असत्य की उत्पत्ति नहीं होती बंध्या पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती यह नित्य आपेक्षिक नित्य वेदांति कहेंगे अनादिकाल से है जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक रहता है इसे अभिप्राय से नित्यत्व सामान्य हो गया वेदांत में पारमार्थिक नित्य नहीं है मीमांसा के लोग तार्किक लोग नित्य मानते हैं तो शक्ति शब्दार्थ संबंध प्रलय काल में रहता रहने से आगे सृष्टि होती है तासाम शक्ति नाम समारोह कार्यों की शक्ति कारण की शक्ति का मेलन ये माया तत्व है सारे कार्य कारण शक्ति ही माया तत्व भवति ब्रह्मण असंगत्वाद इति शक्ति समाहार रूपम अव्यक्तम ब्रह्म असंग है निष्क्रिय है सारे जगत का कारण ब्रह्म नहीं हो सकता है शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है इसलिए कार्य की उत्पत्ति होती तो कारण शक्ति शक्तियों का समाहार माया तत्वम वो माया तत्व ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नहीं अभिन्न नहीं अनिर्वचनीय माया भी ब्रह्म में अध्यस्त आरोपित है असंग होने से सारे शक्ति के समाहार रूपम अव्यक्त मानना पड़ेगा शक्ति के मेलन तद्भेद तरी अव्याकृतम आसीद एतस्मिन निकलो अक्षरे कार्य आकाश उतस्य प्रुतश्च मायां तु प्रकृतिं विद्यानमायि नन्तु महेश्वरम् इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध च अव्यक्तम कुछ लोग भाष्यकार भगवान को मायावादी कह करके दोष देना चाहते हैं जैसे कि माया तत्व को आचार्य नहीं कहा और कहीं नहीं वेद में नहीं ऐसा नहीं जो वेद में है उसको स्पष्ट करके बताया श्रुति में आया तद्ध तद इदम तरह अव्याकृतम आसीत इदम जो का नाम रूपात्म प्रपंच उस समय पहले सृष्टि के पहले अव्याकृतम थी व्याकृत नाम रूप नहीं होता नहीं तो हुआ था अव्याकृत नाम रूप अव्याकृत व्याकरण होने के पहले था वही शक्ति है एतस्मिन् खलु अक्षर गार्ग्यो आकाश उतस्य प्रतस्य आकाश प्रत है इस अक्षर में माया में अभ्याकृत में मायाम तो प्रकृति विद्यान मायन तो महेश्वरम माया है प्रकृति माया भी है ईश्वर माया विशिष्ट का नाम ईश्वर होता है इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध अव्यक्त माया तस्य सांख्याभिमत प्रधान वैलक्षण है माया और सांख्य लोग कहते त्रिगुणात्मक प्रकृति जो श्रुति में कही गई उसको हम भी कहते प्रधान शब्द से कहते वही प्रकृति त्रिगुणात्मिक तो आए और ये प्रकृति को सांख्य लोग मानते हैं प्रधान को स्वतंत्र अलग है चेतन अलग है पुरुष प्रकृति अलग है और वास्तव मानते सत्य उसका नाश नहीं होता है उसको नित्य कहते हैं परिणाम उसका होता है सृष्टि काल में परिणाम होने पर भी नित्य है दो प्रकार नित्य सांख्य शास्त्र में है एक कूटस्थ नित्य एक परिणामी नित्य कूटस्थ नित्य पुरुष है चेतन पुरुष नाना मानते हैं सांख्य में योग में द्वैतवादी है और परिणामी नित्य है प्रधान त्रिगुणात्मिका माया माया तो कही गई त्रिगुणात्मिका वेदांती मानते हैं उसको नित्य मानते हैं और ब्रह्म से अत्यंत भिन्न मानते हैं सत्य मानते हैं इतना समय वेदांत से थोड़ा अलग हो गया नहीं तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति मानते हैं तो प्रधान जो भिन्न अत्यंत चेतन से ब्रह्म में आश्रित नहीं सत्य मानते वो ऐसा प्रधान श्रुति में नहीं कहा गया श्रुति में माया तत्व अनिर्वचनीय एक अद्वितीय तत्व से भिन्न कुछ भी नहीं है इसलिए प्रधान का कोई वस्तु अलग ही नहीं सांख्या अभिमत प्रधान से विलक्षण माह विलक्षण परमात्मा ने वो तो प्रतिभावेन आसमासितम परमात्मा में आश्रित है परमात्मा से अलग है ही नहीं जैसे पट तंतु से अलग है ही नहीं इस प्रकार परमात्मा में माया तत्व तो अध्यस्त है वो अनिर्वचनीय वास्तव नहीं है न अदित्यत्व अविरुद्धित्वम आह शक्ति है तो ये ब्रह्म और एक शक्ति तो दो हो जाएंगे के शक्ति होने से अद्वितीयत्व का विरोध नहीं है शक्ति शक्तिमान को लेकर के चैत्र व्यक्ति आया उसके साथ उसकी शक्ति कहकर दो हो गए ऐसा गिनती नहीं होती है अग्नि है और अग्नि की शक्ति भी दो है ऐसा नहीं है शक्ति को लेकर के द्वितीय गिनती नहीं होती है शक्ति विशिष्ट ही होता है शक्त चैत्र शक्ति विशिष्ट है अग्नि कहेंगे तो दाहकत्व शक्ति विशिष्ट अग्नि है शक्ति को अलग नहीं इसलिए अद्वितीयत्व का विरोध नहीं वह बट वृक्ष शक्ति बट के बीज है अब वृक्ष शक्ति उसमें दूसरा कुछ है ऐसा नहीं है भावी वट वृक्ष शक्तिमद वट बीजम सशक्त्या न सद्वितीयम कथ्यते तद्वद ब्रह्मापि न माया शक्त्या सद्वितीय सद्वितीयम बीज अभी दिखता है वट वृक्ष का बीज बहुत छोटे-छोटे होते हैं किंतु उसे बीज से वृक्ष बन जाता है वृक्ष अभी भावी वट वृक्ष वट वृक्ष आगे बन होने वाला प्रकट होगा उसी वट वृक्ष की शक्ति बीज में है शक्ति मध शक्ति वाला वट बीजम वट बीज शक्ति वाला है भावी वट वृक्ष की शक्ति वाला है बीज तो बीज और उसकी शक्ति ऐसे दो कोई नहीं कहता है नहीं स्वशक्त्या न सद्वितीयम कथ्यते सद्वितीय नहीं होता है सद्वितीय नहीं क्या सद द्वितीय पाठ है द्वितीय कोई विद्यमान ऐसा नहीं द्वितीय न सहित सद्वितीयम सद्वितीय नहीं कहा जाता है उसी प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मापि न माया शक्तिया सद्वितीयम ब्रह्म भी माया शक्ति से सद्वितीय हो जाएगा ऐसा नहीं क्योंकि माया शक्ति ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं दो होने के लिए उससे भिन्न हो तो दो होगा एक को इधर-उधर करके दो कह देंगे एक मुद्रा लिया दो है इधर एक है इधर एक दोनों अलग-अलग चित्र है ना दो रुपए हो जाएगा ना एक पुष्प है ये दो हो जाएगा देखो एक पुष्प दिखता है हैं देखो ये दूसरा है <laughs> ये होगा द्वितीय तो उससे भिन्न होगा तो द्वितीय होगा भिन्न नहीं तो द्वितीय कैसे होगा माया ब्रह्म से भिन्न हो तो द्वितीय होगा भिन्न ही नहीं तो ब्रह्म सद्वितीय नहीं हो सकता है सत्वादि रूपेण निरूप्यमाने व्यक्तिरस्य नास्तित अव्यक्तम ये माया को अव्यक्त भी कहते हैं सत्वादि रूपण निरूपण करेंगे सत्य है असत्य उसकी अव्यक्ति नहीं होती अभिव्यक्ति नहीं होती इसलिए अव्यक्त का नाम रूप प्रकट नहीं तो अव्यक्त है तो तो अव्यक्त शब्दादपि अद्वैत विरोधित्वम द्रष्टव्यम अव्यक्त शब्द से अनिर्वचन है सत नहीं असत नहीं हुए नहीं इसलिए अद्वैत का विरोध नहीं होगा सद होता अलग है तो अद्वैत का विरोधी भिन्न होने पर सर्वस्य प्रपंच से कारणम अव्यक्तम सारे प्रपंच का कारण अव्यक्त है उसी को माया कहते हैं तस्य परमात्म परतंत्रत्वात् परमात्मन उपचारेण कारणत्वम उच्यते परमात्मा के अधीन है माया नहीं कि सांख्य लोग जैसे प्रकृति को अलग मानते हैं ऐसे नहीं है मायाम तो प्रकृति विद्यात मायिनं तो महेश्वर माई मायावी माई माया वाला पर ब्रह्म माया उसमें आश्रित है स्वतंत्र अलग नहीं सत्य नहीं है नित्य नहीं परमात्मा के अधीन होने से वह शक्ति वाले परमात्मा को कारण जगत कारण कहते हैं कारण तो तो माया में है उपादान कारण माया है तो भी ईश्वर निमित्त कारण है उपचारण कारणत्वम उच्यते माया विशिष्ट चेतन को कारण कहते हैं शुद्ध चेतन में कारण तो वास्तव नहीं है और कारण भी नहीं होता है निष्क्रिय है निर्विशेष है तो भी कारण तो गौण प्रयोग उपचार गौण प्रयोग करते हैं न तो अव्यक्तवत विकार्यतया नहीं कि अव्यक्त जैसे विकारी है माया का विकार होकर के परिणाम होकर के जगत बनता है इसी प्रकार परमात्मा विकारी होकर के कारण हुआ जगत का ऐसा नहीं है वो तो गौण प्रयोग करते विकार तो परिणाम माया का ही परिणाम होता है ब्रह्म का नहीं होता है अनादित्वात अनादि है परमात्मा उसका विकार कुछ नहीं होता है अरे माया से जगत कारण कहेंगे तो वास्तव कारण है ही नहीं अव्यक्त से पारतंत्र्यम च पृथक सत्य प्रमाण भावात आत्म सतैव सत्तावत्वासी इत्यर्थ अव्यक्त परतंत्र है ब्रह्म के अधीन है आश्रित है अव्यक्त से पारतंत्रम परतंत्र स्वभाव भाव पारतंत्रम परतंत्र स्वतंत्र नहीं है जैसे सांख्य लोग कहते त्रिगुणात्मय प्रकृति स्वतंत्र उसकी सत्ता ऐसा नहीं है पृथक सत्य अभाव पृथक होने में कोई प्रमाण नहीं है अद्वितीय ब्रह्म है ज्ञान होने के बाद भी कुछ नहीं कार्य प्रपंच कारण कुछ नहीं नेह नानास्ति किंचन श्रुति सबका निषेध करती है कोई प्रमाण नहीं पृथक उसकी सत्ता करके तो कार्य है तो उसका कारण माया मानते हैं और पृथक कैसे नहीं हुआ ब्रह्म तो निष्क्रिय है सारा जगत का कारण नहीं हो सकता है जगत कार्य दिखता है तो कारण मानते हैं और पृथक कैसे नहीं राज्य में सर्प दिखता है मरुभूमि में जल दिखता है जो राज्य में सर्प दिखता है भ्रांति काल में सर्प की सत्ता है या नहीं मरु में जल दिखते देखते समय जल की सत्ता है नहीं तो दिखता है जलम अस्ति सर्प अस्ति सत्ता दिखते है नहीं सर्प अस्ति नहीं कैसे दिखती है सर्प अस्ति जो सत्ता दिखती है वो सर्प की सत्ता नहीं रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती अधिष्ठान की सत्ता सर्प में दिखती है अधिष्ठान रज्जु यदि व्यवधान कर दिया नहीं दिखा रज्जु आप नहीं देखो तो सर्प आपको दिखेगा व्यवधान हो तो रज्जु नहीं देखे तो सर्प नहीं दिखेगा सर्प देखने के रज्जु दिखनी चाहिए रज्जु को यदि ढाक दिया कपड़ा से सर्प दिखेगा रज्जु का स्फुरन होने पर सर्प का स्फुरन होता है रज्जु का स्फुरन का तो रज्जुत्व नहीं है ना रज्जु दिखे तो सर्प दिखेगा रज्जु की सत्ता रज्जु का स्फुरन सर्प में दिखता है सर्प की ना सत्ता सत्ता है न स्फूर्ति है अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में होने से अध्यस्त को अधिष्ठान के परतंत्र कहते हैं रज्जु जब तक है तब तक सर्प दिखे क्या रज्जु को ले लिया सर्प दिखेगा रज्जु नहीं तो सर्प नहीं रहेगा रज्जु है तो भ्रांति से दिखता है रज्जु दिखता है तो सर दिखते है तो सर्प दिखेगा रज्जु को ढक दिया तो सर्प नहीं दिखेगा अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखती है वास्तव नहीं है इसी प्रकार माया की सत्ता आत्मसत्तया एव सत्तावत्वाच आत्म की सत्ता से ही सत्ता है माया में वास्तव सत्ता नहीं आत्मसत्तया एव न तो पृथक सत्ता सत्तावत्वात् माया में सत्तावत्वम सत्ता आत्मसत्ता ही दिखती है वास्तव सत्ता है ही नहीं भाष्य में बटकणिकामेव बटवृक्ष शक्ति तस्मात् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतरः सर्व कारणत्वा च महान च अतएव पुरुष सर्वपूर्णात् अव्यक्त से पुरुष पर परे पुरुष पर का सूक्ष्मतर सर्व कारणत्वात् च महान च सब कारण प्रत्येक माया का भी वास्तव स्वरूप और महान है अतएव पुरुष सर्वपूर्णात् व्यापक है सर्वपुराणात् सारे कार्य में अनुसूत है सर्वत्र विद्यमान है जिस प्रकार सुवर्ण से भूषण बनाए जितने भूषण बनाए सर्वत्र सुवर्ण है इसी प्रकार सर्वत्र कारण ब्रह्म अस्ति अस्ति कहते घटु अस्ति पटु अस्ति पुस्तको अस्ति लेखनी अस्ति पुस्तक शब्द पुल्लिंग भी होता है नपुंसक भी होता है अर्ध अर्धचादय पुंसी च आकाश शब्द पुल्लिंग होता है नपुंसक भी होता है दिवस शब्द पुल्लिंग है नपुंसक प्रसिद्ध तो पुल्लिंग है नपुंसक भी होता है अर्धचादि गणे पठित भूषदेत पुस्तको अस्ति घटो अस्ति अस्ति अस्ति कह करके जो सद्रूप का अन्वय सब कार्य के साथ होता है सर्वत्र ब्रह्म सद्रूप से पूर्ण है और सत से अतिरिक्त जिसको कहेंगे वो क्या होगा सत से भिन्न क्या होगा असत हो जाएगा घटो अस्ते में के सदरूप है के घट रूप सदरूप को अलग करें तो घट मिथ्या है मिथ्या होने से घट देखने के बाद पट देखते हैं सदरूप तो पट में है किंतु घट नहीं है पट में घट नहीं घट में पट नहीं सदरूप घट में या पट में है दोनों में सर्वत्र सदरूप है उसका अन्य सर्वत्र होता है और घटपट आदि का व्यतिरिक और व्यतिरिक का तो अभाव हो जाता है जिसका अभाव कहीं कभी हो जाता है कभी हो जाता है वो सत नहीं है ना भाव विद्यते सत भगवान ने कहा गीता में सत अभाव न विद्यते सत का अभाव नहीं होता है सत घटपट आदि सर्वत्र विद्यमान है ये सत रूप कारण है जिस प्रकार मिट्टी के कार्य सर्व सब मिट्टी है स्वर्ण से बनाया गया आभूषण जितने सोना ये सदरूप ब्रह्म का कार्य होने से सब सत सत सत कहा जाता है सर्वत्र सदरूप ब्रह्म परिपूर्ण पूर्ण है सदरूप ब्रह्म और जो असत से अलग लगता है वो मिथ्या है ही नहीं परिपूर्ण सर्वपूर्णात उसका नाम पुरुष हो गया तत्व अन्यस्य परस्य प्रसंग निवारण आ ऐसे पर पर विचार करके अर्थ से इंद्र से अर्थ अर्थ से मन ये से पर पर विचार करते तो सब से पर हो गया पुरुष अब पुरुष से भी कोई पर होना चाहिए तत्व तो अन्य से पर से प्रसंग उससे अन्य कोई पर होगा बच्चे पूछते हैं उनके पिता कौन उनके पिता कौन फिर भगवान है उनके पिता कौन भगवान के पिता कहेंगे दशरथ है तो उनके पिता कौन उनके पिता फिर हम्म, नहीं जानते बता नहीं सकते फिर बच्चे को डांट देंगे चुप रहो क्यों स्वयं नहीं आता है कृष्ण के पिता गए वसुदेव उनके पिता उनके पिता चार पांच पीढ़ी पूछेंगे तो कौन बताएगा फिर बच्चे को डांट देंगे तो पिता वो प्रसंग होता है वो कारण उससे पर उससे पर तो ब्रह्म से फिर पर क्या है श्रुति जानती श्रुति भगवती माता से हितकारिणी इसे स्पष्ट कर देती पुरुषा न परं किंचित उससे पर कुछ भी नहीं साकाष्ठा सा प्रगति उसमें परत्व का प्रसंग है प्रसंग निवारण न पर किंचेदि उससे पर कुछ नहीं यस्मा नास्ति पुरुषात किंचित चिन मात्र पुरुषात चिन मात्र घनात परम किंचिदपि पुरुष जो चिन मात्र चिन मात्र पुरुष यहाँ पुरुष शब्द का तो मनुष्य पशु आदि ऐसा पुरुष शब्द नहीं है पुरुष तो पूर्ण होने से पुरुष चिन मात्र घन चेतन मात्र का घन चिन्मात्र चेतन मात्र और कुछ नहीं उसे परम किंचित भी वस्तु अंतरम नास्ति वो चिन्मात्र अधिष्ठान से अलग कुछ भी नहीं है सारा प्रपंच दिखता तो है अधिष्ठान चिन्ह मात्र सदरूप से अलग कुछ भी नहीं है अंतरम तस्मा सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्ययात्मत्वाना सा काष्ठा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उसे सूक्ष्मतम करते करते अंत में परम सुख है पर ब्रह्म इससे महान उससे बड़ा उससे बड़ा करके वो सबसे बड़ा है इसे अनुरणीयान महत्वमयान सूक्ष्म से सूक्ष्मतर महत से महत्तर सबसे सूक्ष्मतम है और सबसे महत्तम है सूक्ष्म कहा तो छोटा नहीं आकाश को सूक्ष्म कहा व्यापक आकाश सूक्ष्म है सूक्ष्म होने का सब के अंदर है सबके बाहर भी है इसी प्रकार चेतनात्म तत्व तो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम उससे छोटा कोई नहीं और सबसे बड़ा से भी बड़ा है सूक्ष्मतम महत्व प्रत्येक आत्मा तो उसका पारमार्थिक सर्व शरीर को कोई आत्मा मानते उसके अंदर इंद्रिय उसके अंदर मन ऐसे करते करते करते अंत में वही आत्म तत्व तो है परमात्मा वो आत्म प्रत्येक आत्मा है उसका सबका आत्म स्वरूप हुई उसका कोई अलग किसी अलग के किसी की सत्ता से वो सत्ता बनी ऐसा नहीं आत्म तत्व की सत्ता से अनात्मा की सत्ता है आत्मा की सत्ता अन्य की सत्ता से नहीं है इसलिए प्रत्यय आत्म स्वरूप है सा काष्ठा निष्ठा परिवर्तन समाप्त में अंत में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर ऐसे करते करते सब परम सूक्ष्म है आत्म तत्व महत से महत्तर महत्तम ऐसे करते करते करते करते अंत में सर्वमहत उसके आगे बड़ा कोई नहीं अनंतम ब्रह्म अपरिचिन्न है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है प्रत्यगात्म सब का पारमार्थिक स्वरूप ही ब्रह्म परिवसान समाप्त है अंत में अत्र ही इंद्रिय आरभ्य सूक्ष्मत्व आदि परिसमाप्ति अत्र जो शुद्ध पुरुष चिन्ह मात्र न इंद्रिय से लेकर के सूक्ष्मत्व आदि की समाप्ति उससे सूक्ष्म उससे सूक्ष्म उससे सूक्ष्म ऐसे करते करते अंत में एक चिन्ह मात्र सौ से सूक्ष्मतम जितने सूक्ष्मत्वम की कल्पना कर सकते हैं उससे भी सूक्ष्म है आत्म तत्व इसी प्रकार सूक्ष्मत्व आदि महत उससे महान उससे महान कारण कार्य से महान होता है सूक्ष्म होता है व्यापक होता है ऐसे करते करते अंत में माया तत्व उससे भी परम है परम सूक्ष्म परम महते आत्म तत्व आगे है ही नहीं परिसमाप्ति अतएव च गंत्रिणाम सर्वगतिमतां संसारिणाम सा परागति प्रकृष्टागति सा काष्ठा सा परागति गति गम्यते यदि गति प्राप्ति जिसकी होती है गंतव्य गंत्रिणाम जो चलने वाले सर्वगति मता संसारी नाम संसारी बनता है श्री गत्यर्थ धातु ही संसारंति तेषां शील श्री ते सुप्य जातु नहीं संसारिन सम्यक शरण चलने वाले अनादिकाल से चलते रहते हैं चलते रहते कैसे यही सम्यक शरण जन्म मरण जरा व्याधि जन्म मरण जन्म मरण चलता ही रहता है करोड़ों करोड़ों जन्म चले गए सब प्रकार भोग बहुत कर लिया फिर भी मन शांति नहीं होती इदम में साथ इदम में साथ समझते हैं मरने के बाद कहाँ जाना पता नहीं चौरासी लाख के चक्र में भटक रहा है उद्धार अपने करो इसके लिए परमात्मा कृपा करके मनुष्य जन्म दिया समझते भी है फिर भी विषय के पीछे दौड़ता है जानता है इस शरीर समाप्त होने वाला है उसके बाद कहाँ जाना पता नहीं किंतु माया के तत् माया इस प्रकार मोहित है सम्यक शरण संसारी सम्यक शरण चलता है गतिमता सा परागति परम प्राप्तव्य हुई उसको प्राप्त कर लिया तो गमन संसार गति समाप्ति नहीं तो भटक रहा है घूम रहा है अनादि काल से बस घूम रहा है कितने करोड़ों करोड़ों कल्प कितने बार घूम गया कोई हिसाब नहीं है अंत में उसको प्राप्त हो प्राप्त कर लिया तो समाप्त हो ही गति अब प्राप्ति क्या उसको जान लिया साक्षात्कार कर लिया वही प्राप्ति है क्योंकि अपना स्वरूप है अपने से भिन्न नहीं है अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या करना कहाँ जाना पड़ेगा कितने चक्कर लगाना पड़ेगा सर्वपत नित्य प्राप्त है अज्ञान के कारण भाग रहा है मृग नाभि में कस्तूरी है सुगंध होता है मृग दौड़ता है मृगी जंगल में कहाँ से सुगंध आता है दौड़ता है बहुत इधर से इधर से उधर से सुगंध कहाँ से आता है अपने नाभि में है अपने हृदय में अपने स्वरूप पर स्वरूप स्वयं प्रत्येगात्मा जो बुद्धि का साक्षी है आप अपने बुद्धि को जानते हो बुद्धि आपकी है आप बुद्धि नहीं है देह इंद्र मन बुद्धि आदि जितने हैं सबको जानने वाला बुद्धि का साक्षी आप है सारा संसार को आप जानने वाले आपका दृश्य जितने हैं सब जड़ है दृग रूप चेतन आप है एक दृग रूप चेतन है वो अनेक दृग रूप चेतन अनेक नहीं है जैसे सपने में आपसे भिन्न बहुत जीव दिखते हैं मनुष्य पशु पक्षी सर्प व्याघ्र आदि सब सपने में बहुत दिशा दिखते हैं सपने में चलते हैं बहुत लोग चलते हैं किंतु आपसे भिन्न कोई चेतन है नहीं ना जड़ भिन्न है जड़ चेतन कोई भिन्न नहीं सपने में आपसे भिन्न इसी प्रकार आपका पारमार्थिक स्वरूप आपका कहते देह को नहीं लेना जैसे सपने में का आपका देह बनता है वो आपका स्वरूप नहीं है जग जाते तो देह नहीं रहता है जो आपका जागृत शरीर रहता है ठीक इसी प्रकार ये भी एक स्वप्न चल रहा है जो शरीर को अभी आप मेरा मेरा मानते हो मैं मानते हो वो आपका स्वरूप नहीं है जब जग जाएगा तो आपके पारमार्थिक स्वरूप में कोई आपसे भिन्न है ही नहीं ना जड़ ना चेतन ना, ना कोई कुछ नहीं भिन्न पारमार्थिक स्वरूप एक ही है तत्व है वो एक ही चेतन दीर्घ रूप चेतन बाकी सब दृश्य है उसका ज्ञान हो जाएगा अहम अस्मि परम ब्रह्म सा संसार गति समाप्त है यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमम भगवान ने कहा गीता में जिसको जाने पर अनिवृत्त नहीं होते वे परम धाम है ज्ञान हो तो प्राप्त हो गया प्राप्त हो गया तो फिर आगे वापस नहीं अविद्या से भटक रहे अविद्या की निवृत्ति हो गई काल से उसे अविद्या की उत्पत्ति नहीं होती यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमम इति स्मृते गीता में कहा गया एक ही अव्यक्त माया तत्व है उसकी सत्ता अलग नहीं है शुद्ध चिन्ह मात्र बाकी सब माया से ही कार्य दिखता है माया से सृष्टि माया से का अर्थ वास्तव नहीं है ननु गतिश्चेत आगत्या भी भवितव्यम यदि गमन होता है संसारी की परागति गमन है तो फिर आगमन हो जाएगा गतिश्चेत आगत्या आगमन होना चाहिए कथम यस्माद्भूयो न जायते यदगत्वा न निवर्तन्ते उसे उत्पन्न नहीं ये कैसे होगा शंका कर्ण से उत्तर देते नहीं सदोषः सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात् प्रत्यगात्मत्वाद अवगतिरेव गतिरिति उपचर्यते गति का यहाँ गौण प्रयोग है गति कहाँ है सबका अपने वास्तव स्वरूप है पर प्रत्यगात्म स्वरूप प्रत्यगात्मत्वात् ये छूट गया है क्या है पुराने पुस्तक में प्रत्यगात्मत्वाद सर्वस्य प्रत्यय त के आगे यह है जिसमें नहीं बना दो प्रत्यगात्मत्वाद प्रत्येक आत्म स्वरूप सबका एक ही तत्व है अनेक आत्मा का एक प्रत्येक आत्मा हो सकता है सबका आत्मा एक ही कहते सबका आत्मा तो भिन्न भिन्न होना चाहिए सब भिन्न भिन्न बैठे प्रतिबिंब एक बिंब का अनेक प्रतिबिंब हो सकता है अनेक प्रतिबिंब है बिंब कितने हैं वो बिंब किसका है किस प्रतिबिंब का है अनेक प्रतिबिंब का एक बिंब है अनेक प्रतिबिंब का जिस प्रकार एक बिंब है इस प्रकार अनेक चिदाभास है आप जिसको आत्मा समझो आत्मा नहीं चिदाभास है वो चेतन का प्रतिबिंब अंतकण में दिखता है अनेक चिदाभास का बिंब रूप चेतन एक हो सकता है वही प्रत्येक आत्मा किसका वो प्रत्येक आत्मा है किसका वास्तव स्वरूप है सारे जो दिखते हैं प्रतिबिंब चिदाभास जिस प्रकार एक बिंब का अनेक दर्पण में अनेक प्रतिबिंब है अनेक प्रतिबिंब है बिंब एक है और बिंब किस प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप है सारे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप कितने बिंब है एक बिंब है इसी प्रकार ये सब बैठे चेतन कहते किसको लेकर चेतन कहते चिदाभास को लेकर के सारे चिदाभास का वास्तव स्वरूप चेतन एक है सब का प्रत्येगात्मा हुई है एक ही सत्व है सर्वस्य आत्मत्वा सर्व सर्वस्य प्रत्यगात्मन से गति कहाँ उसको प्राप्त करने के कहाँ जाना पड़ेगा आप तो पास में जो दूर में वो भी आना पड़ेगा बिंब व्यापक सर्वत्र है प्रतिबिंब जहाँ है बिंब वहीं है कहीं जाने का नहीं है गति है नहीं तो गति फिर यदगत्वा परागति तो अवगति रे गति अवगति ज्ञान जान लेना ही गति प्राप्ति हो गई जानने मात्र से प्राप्त है कान में पेंसिल रख करके बड़े ढूंढ रहा है पेंसिल कहाँ रखा कहाँ रखा माला गले में है कहाँ चली गई माला कहाँ माला चली गई जब पत, पता चल गया गले में है उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए ज्ञान विमान चाहिए ज्ञान के लिए प्राप्त करने का उड़ना पड़ता है हाथ लगाना पड़ेगा देखना पड़ेगा दर्पण से ज्ञान हो गया तो देखने का नहीं माला है इसी प्रकार अपना स्वरूप है ज्ञान ही प्राप्ति है अप्राप्ति की प्राप्ति ने नित्य प्राप्त की प्राप्ति उपचार गौण प्रयोग प्राप्ति गति का गमन का ज्ञान ही ऐसे गति सद उपचार गति वास्तव नहीं तो आगमन कैसे होगा वास्तव गमन होता आगमन है वास्तव गमन भी नहीं ज्ञान ही है तो कहते ज्ञान हन से जैसे गमन वास्तव नहीं अवास्तव है प्राप्ति ऐसे अवास्तव फिर आगमन हो जाए गमन वास्तव नहीं ज्ञान मात्र तो फिर आगमन वास्तव नहीं जैसे पहले आगमन हुआ था ऐसे आगमन फिर हो जाए वास्तव नहीं तो क्या जैसे पहले हुआ था ऐसे आगे हो जाए अनादिकाल से तो जन्म मरण चक्र में ज्ञान होने के बाद पारमार्थिक आगमन नहीं हो जैसे व्यावहारिक चल रहा था संसार ये संसार फिर आ जाएगा पहले से पहले अज्ञान था तभी अज्ञान से भटक रहे थे ज्ञान होने के बाद अज्ञान रहेगा क्या अज्ञान के कारण ही संसार में भटक रहे थे ज्ञान होने के बाद अज्ञान चला गया फिर वापस आएगा अज्ञान अनादि उसकी उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए फिर कल्पित रूप से आगे आना ये भी नहीं आगे आने की कल्पना नहीं ऐसे विचार कर निर्णय करना फिर यदि आने की इच्छा है तो वेदांत श्रवण नहीं करना <laughs> कहीं श्रवण करते करते ज्ञान हो जाएगा तो फिर आ नहीं पाओगे दोबारा <laughs> आज यदि नहीं आना है निर्णय हो गया तो वेदांत श्रवण नहीं छोड़ना संसार में भटकने पर संसार की प्राप्ति होगी वेदांत राज्य में वेदांत साम्राज्य में आरूढ़ होना है वेदांत चिंतन करते करते आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया चिंतनात् जब तक सोए तब तक जब तक मरण होने तक वेदांत चिंतन ही करना है नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह सब घेर करके गिरा देंगे यो ही गंता स अगतम अप्रत्यग रूपम गच्छति अनात्म भूतम न विपरेण जो गंता गमन करता है अगतम गच्छति अप्राप्त को जाता है अप्राप्त ग्राम को जो ग्राम अप्राप्त हो ग्राम को जाता है जो जहाँ है उसको जाने के लिए गमन की आवश्यकता नहीं अप्रत्यग रूपम प्रत्यगात्म से भिन्न को प्राप्त करता है अनात्म भूतम आत्मा से भिन्न को प्राप्त करेगा गमन करके अनात्म भूतम न विपरेण आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक रूप को प्राप्ति के लिए गमन नहीं है तथा च श्रुति कहती है अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णव इत्यादि अनध्वगा अध्वनि गच्छन्ति ते अध्वगा न अध्वगा अनध्वगा मार्ग रहित मार्ग है ही नहीं मार्ग में जाते नहीं अध्वसु पार इसनव संसार पार को जाते हैं पार जाने वाले मार्ग में संसार को पार जाते हैं जिनका मार्ग है ही नहीं संसार ज्ञान होने पर संसार पार कर लेते हैं तथा च दर्शयति संसार पार इसनव टीका में संसार पारम गंतार इत्यर्थ संसार पार जाने वाले श्रुति के तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वम सर्वस्य श्रुति कहते सर्वस्य सब का प्रत्येक आत्मा है ब्रह्म चेतन स्वरूप सब का प्रत्येक आत्म तत्व है एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा गूढ़ है आत्मा न प्रकाशते सर्वेषु भूतेषु गूढ़ छिपा हुआ है न प्रकाशते किसको दिखता नहीं दृश्यते तो दिखता नहीं तो फिर ज्ञान कैसे होगा दृश्यते तो अग्रिया बुद्धिया अग्रिय तीक्ष्ण बुद्धि से संस्कृत बुद्धि से जाना जाता जाना जाता है दृश्यते का था आंख से देखने का नहीं बुद्धिया दृश्यते ज्ञायते बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है बुद्धि वृत्ति होती है वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है यहाँ तक बुद्धि का काम है बुद्धि उसको प्रकाश नहीं कर सकती बुद्धि स्वयं जड़ है तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि में वेदांत श्रवण करने पर वो ब्रह्माकार वृत्ति होती जो अज्ञान की निवृत्ति का है अज्ञान आवरण नष्ट हो गया तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है वो बुद्धि कैसे होना चाहिए अग्र तीक्ष्ण और सूक्ष्म या सूक्ष्म वस्तु को विषय करने वाले ऐसे सूक्ष्म बुद्धि से ज्ञान होता है किसको ज्ञान होगा सूक्ष्म दर्शी भी सूक्ष्म पदार्थ दर्शन करना जिनका स्वभाव है ऊपर ऊपर उड़ने से नहीं सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम आत्म सत असत विवेक करते करते आत्म तत्व परम सूक्ष्म है उसको देखने की इच्छा से हो बाह्य प्रपंच आडंबर से हट करके स्वरूप चिंतन निरंतर करे सूक्ष्मदर्शी उसको जान सकते हैं एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा गूढ़ो अगर आत्मा है ये पृषदर आदि में आता है पृषदर आदि अथोपदिष्टम भवेत वना गवाद हंस सिंहो वर्ण विपर्यात गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर वर्णनाशात पृषोदरम ये पुरुषोदर आदि में पठित है गूढ़ आत्मा वर्ण का विकार हो गया गूढ़ो आत्मा अ होने पर तो इंघ पतांति पूर्व रूप हो जाएगा आत्मा होने पर नहीं होना चाहिए तो विकार होकर के आत्मा में आकार को अकार हो गया आकार को होने से गूढ़ आत्मा यस्य स गूढ़ आत्मा स्वरूप जिसका गूढ़ है आक होने से इंघ पंदांतादति पूर्व पूर्व रूप होकर के गुरु आत्मा बन जाएगा ये वैदिक पुरुषोत्तर आदि गण में पठित है ओम सहनावतु